और जैसे कि मैंने पहले कहा कि सतगुरु जी प्रताप सिंह जी ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया ताल पर कि उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस की ताल पेटी भेनी साहब में और आज हम कितने खुश हैं कि कि क्योंकि इतने नन्हे प्यारे बच्चों ने इतनी ऊंचाई पर ताल को ले आए ये लोग कितनी खुशी की बात है हमारा अगला आइटम है सितार पर उस्ताद हरभजन सिंह जी उस्ताद Harbhajan Singh ji Namdhari school of music में सिखाते हैं भारत में बहनी साहब में हरभजन सिंह जी की संगीत की शुरुआत हुई पंडित महादेव प्रसाद कथक से और फिर महाराज बीर सिंह जी से और आप उस्ताद अमजद अली ख़ान साहब से सितार सीखे और अनेक म्यूज़िक फेस्टिवल्स में आपने हिस्सा लिया और आप गाते भी हैं और बजाते भी हैं ये बहुत ही एक अनोखा टैलेंट है जो बहुत कम लोगों में होता है आज खैर मेरा ख्याल से आप सितार ही सुनेंगे और आज शाम को जो आपकी संगत कर रहे हैं वो हैं नविंदर पाल सिंह जी तो आइए उस्ताद हरभजन सिंह जी और अब आप बजाएंगे राग रघुवंती मधुवंती माफ़ कीजिएगा